Aquí está. के बना वे हो धनुष बेटा पकड़ाओ तो आपके रिकॉर्ड पर विराजमान हो गया चक्रिया पर की छह के नीचे वरदान दादमा नीचे ढाल काली को डाला जाज में चोश बेटा ने ढाक दीजिए बस आप पड़ गया हस्ती दांत का वो बेटा बेटा कर जब सोच बचा ये वरदाओ राणा जी ने जरूर भी आप पाना के लाऊंगा राणा जी की राण में तो मंगला चार हो जाए राणा जी का गीत बना जो राण में हो जाए ये तो हम राणा जी को बिहार प्रेम सुराण में मंडल छे तो देखा कहीं तो तीन दिन ब्याह का आटे रह जावे और कहीं नीम दे पड़ियार के और राणा जी के बात दोनों बहन के बात आपसे बोल जाओ आज घेरे ओ जागोर बदे नाम आगे दादा यो नाम बर जा राणा मान जाए वे करेगा हराड़ कोई सु ही करेगा सतरे धारिया की कर दी रे गजब की बात नीम दे तो करी गजब की तो आज बचारी रे बात नीम दे को दी बेचारी वहां वहाँ के आया राम लग जा रे वहाँ के तो आया मांडा का आड़ी तीन दिन रह गया अपना भाईला बगड़ा था ना नू तो जरूर भी देनी चाहिए नूता को नाव लेता ही नीम दे पड़ियारे खार माँ के और देख बुलो दे हेरण का राव जी मारी जो माने ने तो बगड़ा था ना नू तो मत दे दिया और जे जिन तो दे देगो दादा वे चोश बहर की दूर पड़वन का सरदार से शहमरा पहुंचा का वहां कड़ी मुछा का ने और सरदार में बावन हस्ती को पड़ दादा भाई वो तो सरदार आड़ जो थे दारू પીએગા અર જાન બરાત માં લહે જાઓગા દાદા ભાઈઓ को करडो शिवाओ छे तो आगा अपनी जान नहीं ये दादा भाई अच्छी तरह अरे कहा का लड़ा बैठे को स्वभाव दारू पिएगा धमाल करेगा बहुत बुरी तरह जो घोड़ा नचाओगा दे दादा भाई कोई सरदार आगे कोई अच्छी बात कह देगा तो वहां खटावनी नहीं होगी तो दादा भाई वहां लड़ोगड़ा बगड़ा होता ना तो यही अरे बात क्या नींदने पेताई और राणो जी घबरा गयो भाई नींद सरदार ए वीरा तो करियो छे गजब बात वहां का तो टीका और वहां का लगन ना रे वहां ने नू तो ने दिया तो दादा गजब की बात है वहां का तो री पे अपना ब्याह साम साम लाग रहा थे आप पकड़े काई की दादा नू ता जरूर नींद पड़िया देनी चाहिए नींद पड़िया देनी बोली कि दादा भाई जब तू पकड़ा था नू तो दे तो मैं थारो भाई कोई ने तुम्हारा भाई के तो वही बरात में जावे आर के में बरात में जाओ रणखोर आओ जी देख बोलो के ये नीम दे सरदार अच्छा जोर से पेश मत करे देख रे भैया बे अड़बिला सरदार जी आपने पक्को भाई विचारों से और ई बात में आपने जरूर भी आंग रोश पड़ जाओ ये दादा बढ़ियार नीम दे देख बोले चाहे लाल जतन हो जाओ पर बंधा था तो मुझे तो नीम दे बढ़ियार ने राणा जी के अरे मन आपके पास है और पकड़ाओ तक तो, तो पकड़ाओ तीन दम सु बाट जगह से काल दे महिला को तो ना आई दो दिन हो गया और छह दिन मांडा को आला है जहां तक भी पकड़ा था मैंने तो नहीं मैंने कहा पकड़ाओ तो के छे कहीं बात पा बेजा कर दी रे धन बात है दादा रे દાને આગ્યો રામ માંડા ખોર છે દાને આગ્યો वे છે વે પાટી છોઈ સિંદોર્યા રે રાણાજી ગીર્યા પાટી રાજા રાની ગાટ કે માઈ નવા કાઈ दादा भाई जरूर भी आपने कहा है बात तो बेदा है माने राठी ठीजो चोईस बेटा पकड़ा तो बैठे बैठे हाँ। रण का राव जी की बात हाँ। जो जा देखो रे चोईस तो भाई पकड़ा होता हूँ आज शेदन मांडा को क्यों ये मरता हूँ कहीं बात राण में होगी के कहीं देह घोर की बात हुई आपने मुंह तो ना आयो बजे कहीं हो ने ओ सगा देख बोलो को देखी हाँ छोरी ये ऊँचे चढ़ा पेड़ी डाला चढ़ सो देख मेला का पुरुष पे सुन चढ़ ऊंची देख देखा राण में काई घोर में रोली तो दासी बांधिया मेला का ये वाला पेड़ पेड़ा सरती जारी छे चार मेला का पुरुष देखे कोट में तो के चोइस भाई बगड़ावता हूँ राणा जी तो सच धजर तैयार हुई छे और राणा जी की बरात जावा में अरे शुरू हुई छे बरात को नहाव लेता चोइस बेटा बगड़ावता के नाम से जो रोस शरीर में आई छे કાંઈ ટકા બગડાવત કરે છે હા કાંઈ ટકા બગડાવત બી છોટી સી જાન ભણાવે છે तो कोर कारे दियो राम राणा जी ने तो को तो कारे दीनो याद दा સાણે ગારી તોય સામોલી જોને મુડલા રે સાણે ગારી ને જણ ગારાલી ગાડાયા કણાય લીજો રે જાન બનાય મારે દાન લીજો ને જાન વેણાય ને વેણાની જાને આપણે છોટી શિરે જાન મારે દાર છોટી શિરે ਬਣ ਤਾਲੀ ਰੇ ਹਰੀ ਗਾਲ ਵਾਣੀ ਬਣ ਤਾਲੀ ਰਵਾਣੀ ਜਾਨ ਨਾਏ ਛਤਰੇ ਦਾਰਿਆ ਕੀ ਆਜ ਵਾਂ ਕੀ ਬਣ ਤਾਲੀ ਤੇ ਨੇਨੀ ਸ਼ੀਰੇ ਜਾਨ घोड़ा पे आशे वारी जोदा वेरे वो यादे घोड़ा पे आशे वारी घोड़ा आज दिया जरान गुड़ लाया राम छो यश पर जड़ाना रे चाल गुड़ बतवाड़ा बेटा पकड़ाओ देख बोला के देख रे बनाओ राणा जी की जान पर आज चढ़ ना होगी तो आपने भी इसी बहन का घोड़ा श्रृंगार और तैयार कर लियो हाथ में ले लो राम प्रिया का सुंदरिया सिलरा बगल ढाल तरवार ताना भरनी बांध लियो पाग बागा फिर लो किसी बड़ा हाज के ए मना सोरठ ले लियो तरवार पग हमें लाखनी मोसिया बलमा लियो चूस बेटा पकड़ाओ था ने सरदार देख बोलो कि बिठाओ आपने भी भंगरो भोजन पीन बना और शेवरा बांध हैर मदाम माथा ने मोड़ बांध और आपने भी छोटी सी जान तैयार कर जवान ने तो नहीं दियो आपना तो मेडा आपना शब्द आपना लगन है विराजी अपना टीका नारियल सब अपना फिर भी आप कहता है तो नहीं दियो तो दादा भाई भले छे छे महीना का सकरा में जाओ ये पण रानी जेम थी तो तू इस बेटा पकड़ाओ थी प्राण अब ले तो राणा जी की बरात छत्तीस राग बाज रहा छे ए मरदा राणा जी की जान जियो चढ़ के और रवाना हुई थी राणा जी की बरात हस्ती घोड़ा ऊंट रथ पे अडवालिया सड़क पे गाड़िया ये मरदान रथ राणा जी की जान में कोई गणती तो राणा जी की बरात है तो सड़क पे और गढ़ा पे जो बरात जारी थी चौबीस बेटा पकड़ाओ तो सज तैयार हो और अड माड़ा ही घोड़ा छटका दिया था वह भाया की दौड़ એ મરદા આદા ખુશુમલ કે છે આદા રંગ શકે ઘોડા ગદે છે છામટા તો ઘોડા ભજર ડાણા ચાલ आगा सा बाता चोइस बेटा का पकड़ा होता का घोड़ा जी गरबा करवा चला तो कहीं देखा राणा जी की जान जावे और कहीं चोइसी पकड़ा होता की भी जान जारी ये राणा जी हरे खड़बी का રાણાજી હરે અણબી ખડબી કા બાજા બાજ્યા છે છત્રીસ રાગ જુ રાણાજીની જાનમાં तो राणा जी राणा जी बूढ़ा राणा जी के ताई आखे राण की छोरी छापिया तो कहीं बरात में अरे त्यार करे और कहीं देखा छोरी छापिया जे राणा जी का ये मरदान नकाशी बना गीत गावे घेरे चाली बरात का राम की ये बाजा तो रहे बाजे बाजा रे राणा बद्या तो लागे राम राणा जी ने बद्या तो दे रे नाना Live. चंदूलाल जी ने ये छोरी छापिया रण के बारे जो लाडा जी ने बताया दे रही थी अड़ी गड़ी में दूल्हा जी ने फेर के और जान मना और बतिया कर दिया जी तो कहीं देखा ये मदान राणा जी की जान और बगड़ावता की जान जो जारी छे चोईस बेटा बगड़ावता काट ही घोड़ा तोड़ता जरा से तो कहीं राणो जी नीम दे पड़िया आसू के छे आज घेरे बोले रण को राम जी सुन ছে জাগি জানি দোনা ঘিরে পুগি ছে জাগি যাওয়েছে ওয়াকি জানু মারে ধারে দাঁড়িতে নে ওয়াকি আগে কাক कशा करूंगी ये राम परग शाह कशा करूंगी आज कशा करू परग शारी बोझ किए डालियो जनवासो राम बाग मेरी डाले को जाने को મલ્હારાણી હા જેમથી જો મેલામાં બિરાજમાન હોય છે ઝરોકામાં ડોડિયામાં રાણી જેમથી બિરાજમાન હોય છે તો મરદા હા રાણી જેમથી બેન બોલી કે દેખો રી છોયો એ મરદા દો બરાતા આ રહી છે એક લાડી દो बीन हो गया देखो री छोरियाओ कुड़कुन परणूंगी हैर काई परीक्षा पाऊं तिर सवाई राजा भोजगी એ રણાઓ દો બરાતામાં કણાક્ષો તો ભોજી છે और कणाक्षो भोजी को दिया એ રણાઓ બાગ में ચોઈસી બગડાઓ તાકી હા તો મરદા જાન ઉતરી છે ને દાણે કણાક્ષો ભોજી છે હે ને દાણે રાણોજી કણાક્ષો છે रानी जेम थी देख बोली करे बुरी राना ए छोरियाओ जाके आओ जान के सामने बधाओ लेकर जाओ देखा कलश बधाओ ए राना हो तो ही जाने का कलश बधाओ देखा तो कहे ने कहा छोरी छापिया कलशिया धर धर माथा पे haar vrede gaat samen. Te samen daar wat je kost me छोटी सी वे दान रे यार ने वाद रे दान नाए कलस बांधा बाहे राम छोरा बाजा कलस बदावा आज रे दान ने बनावा दान नाए राणा जी के रे राम याद आप पर की जान के बातें छोरिया छोरी छापरिया अरे राणा जी की जान ने कब से बतावा जा रही थी तो राणो जी तो बूढ़ो आदमी तो पुरानी बात ही चाले ये मधा बींद खोद रही हाथ घा तो पांच तो सिमोड़ा और पांच पतासा और पांच टका का पीसा बांजा का कड़सा में छोरी छापरिया का कड़सा फट दिया थी छुरी छावरिया फाची जाके रानी जी ने बोला गरीब भाई साहब ये आगो बादरी बूढ़ा राणा जी ने पांच तो सिंगोड़ और पांच पसा तो था ये बड़ा कलश में पट गया थे भाई साहब रानी जी ने देख बोले कि देखो राणा ये एक देखा छोटी सी जान फाचा रही छे वो आप उनकी जगह उन्हें जाओ बतावा तो कहीं जगह उन्हें बतावा के वास्ते जा रही छे આવ્યો સવાઈ મોજ મારે દાર પવની પુણ્ય સેવા कलश विदावा आज जी जाया के तो या डेरे बोले थे राजा वो जी ने वाते सुन बोलो रे राजा बोलो हस्ती की बूण ने वारे बोलो हाथ की रे मोरा सुबर जो राम कल शार मोरा सुबर जो याद राजी तो गी ते राम छोरा मैं तो खुशी तो योगी मन ये गणो यनु को भी दिवाई जीरी गणो ते रूपालो ये उने परण जो राम था को बाई उने जी परण जो याद रे रे सिवाए बात नाए राणो छे बूडो होडे निड बाई मारी राणो जीरी बूडो रे मगर पाची सी को बोझ बाई मारी मगर पाची सी को बोझ तू સોળા વર્ષ छोरिया भंवर भोज के बीन गाड़े भरना ये मर्दान ने वो सरदार और भंवर भोज बोले से देख रे नेवाजी बुहरास्ती की गुण खोद और यहाँ छोरिया साथ ही छोरी छापने का माता कलश दे रहा ये हीरा मोतिया सो तू कलश भर दे तो छोरी छापने की खुशी होगी वारे सोई राजा बोल વાહ આની કે મંગર પછી છે કોશ તિયા ભાઈ સાબ ફલાપ સ્કિન હરજે એ ભાઈ સાબ પાંજા દે ગોળી રાણી જીમ તી સુ કે પરણે તો સવાઈ રાજા ભોને પણજી ભાઈ સાબ રાણો તો પૂરો ડોકરો પડે છે એ રૂપો તો કાઈમાં કાશે નહી તુશી બગાઉ બાખમ ડેરોડ થજે રાણી ગોવિચનવાશ ઉતર્યો દે તો કાઈ રાણી પાંજા છોરી છાપ્યાશુ કે છે કાં તાપ શું બતાવતો पीछे याद रे कशा तालांगा हरा मिली बारी कशा को तालांगा सुई कतारणी लारी ले लो ये रसुई को कतारणी लूरित रचण बण के बण जाऊं तमोड़ी की राम लड़ गिरी बण जाऊं तमोड़ी की आदि पान खुआ बागे मस जाऊ रे अब पान खुआ बागे कशा मालूरी है राम गोदा जी सूरी कशा है मालूंगी मैं पण जाऊं राज कलालन में तोरी पण जाऊं राज कलालन मसराम तो मल लुड़दा तू के मसरा नाम में भाग में लाग ए बान्याओ कहीं हरे मसलेर यो भाग में मसल मिल भागवा तो जाओ देखो री राणाओ सुही कतनी हाथ में ले लो दर्जन के मस मिलवा के वास्ते भाग में चले जाओ ए मरधा जो दर्जन नहीं मनो तो तनोदन पर अच्छा बढ़िया बढ़िया पान लगा और भोर भोज का मुंडा गुजार दिया ये नान तमोदन पर और भाग में मनवा के वास्ते जाओ एन बांध्याओ कहीं मश में भर મસન ભરવો શું મળવાલા દેખુરી છોર્યાઓ एक एक तुम्हारा मन में आओ थे कि मादन को भेज करके और सेवरो ले जा और सेवरा का मुस दू बहुर भोज सुन ले सेवरो बढ़िया सो सेवरो गुथ ले जाऊं एक तरह तरह का फूल तो और माला गुथ और माला गला में बढ़िया ये मान्याओ कहीं के मर जाऊं ये कह मन में हमारे ऐसी आवे जो कलाली बन बोतल हाथ में लेके और कलाली के और कलाली के मुश में भौजी सुधार मिले तो पण कशा जाऊं किसी की ना पेरा हुआ हे मधा राजा अरे पिताजी और मारी माता छे के देख भाई साहब वहां भौजी के तू पण करेगी वो चोइस भाई की गुदरे बाजे जी खा तो मने सारा घर बार का राणा जी के पाना खुशी हुई छे राणो जी राजपाट को धरी छे हे मर्दान कादी सिंहासन पर बैठ बाड़ो से रण को राव जी कोई बोधी सी माया को ये सत्तर घोड़ा की फौज नीम दे पड़ी हार के छे नो तुमा दल फौज रण का राव जी के छे तो देख तो मारा घर का तो मैंने ये बात सो समझाओ कि तू राणा जी के संग में धरो ब्याह देखो री राणा ये मर्दान राणो जी जो मैंने पढ़ने जावे तू हो की बात बांध्या हो कहीं करना चाहिए रानी जीवती देख बोली के बुरा ना हो मारो जाबो कसी हालत सुन भी नहीं हो ऐ मान जाओ हीरा छोरी सु देख बोला के हीरा तू छाने शिव जा और भोर भोज को हाथ को कटारो तू चनवा सामुजार लिया तो कहीं देखा बांदी श्रृंगार कर कहीं देखा Thank you. भोला में काजल ना मारी में काजल तारी तारी घर ला मांग नाए मोटा बार ले मांगी रा मारी मोटा सुबार ले शेजाना म्हणाल तो यश देशारे गुजरे जापूगी चे राम इना बांधी जापुगी रे बोले छे मारे बोझ मरे नान बोला सवाई रे બગીચે હાથ જોડ ખરગોશ બેન બોલે કે રે સવાઈ रानी जेवती ने हट पकड़ में मुझे आपको तलवार जा हाथ की वो खांडो दे दो ये चमरिया बीजा में रोप और भाई साहब साथ ही फेरा खा जाओ तो खांडा का फेरा खाओगी रानी जेवती सात फेरा खा जाओगी तो सात सात चौदह फेरा की थारी रानी बाज जाओगी जाट सवाई पकड़ कमर खटारो बांग लो के और बांदी के काई दे दी उसे बांदी घुसारती लुगड़ा के नीचे और पाछी महल में चढ़ती जाई छे जार रानी जेमती ने जार खांडो दे दियो हाथ में रानी जेमती चौरा के पीछे खांडो रो और शाक्ति फिराज वो खांडा का रानी जेमती खलिया तो मरदान जान को हाँ भूखम हो तो कहीं देखा राणो जी तोरण पे जावे और कहीं देखा તોરણ એમ ધારણ કો રાવજી મારે છે કાંઈ નાની જેમ થી ને પણ